عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ईमान की सलामती के लिए आपने एक दुआ अपनी उम्मत को सिखाई कि अक्सर आप ये दुआ करते या मुकल्लब क़लूब सबित कलबी अला दीन हजरत उम सलमा रदी अल्लाह तहा फरमाती हैं कि सबसे ज़्यादा इसी दुआ को करते हुए मैंने सुना जिसका तर्जमा है या मुकल्लब अलकलूब ए दिलों को फेरने वाले सबित कलवी तो मेरे दिल को साबित कदमी दे अला दीनिक तेरे दीन पर हजरत अनस ने फिर पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप खौफ महसूस करते हैं हमारे ईमान के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस को भी तहफ़ ईमान की फ़िक्र अता फरमाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ हम सब मिलकर दोहराते हैं तो आप मेरे साथ मिलकर आंखें बंद करके ये दुआ करें अल्लाह हमें ईमान की सलामती नसीब फरमाए या मुकल्लिबल कलूब सब कलबी अला दीनिक या मुकल्लिबल कलूब सबित कलबी अला दीनिक या मुकलिबल कलूब सबित कलबी अला दीनिक सल्लल्लाहु अलैहि कुरान मजीद फ़ुकान हमीद सूर बकरा आयत नंबर 217 में ईमान की अहमियत को बयान किया गया वमई यर तदित मिन कुम आंदीनी जो कोई दीन इस्लाम से फिर जाए फयमुत वह हुआ काफिर और कुफर की हालत में फिर मर जाए फ़लाइक हबित अमाल फिर दुनिया वल आखिर तो इन लोगों के आमाल दुनिया और आखरत में बर्बाद हो गए वह उलाइक असहाबुन्नार और यही लोग जहन्नमी हैं हम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं अपने दीन से फिर जाए काफिर हो जाए और फिर कुफर की हालत में मर जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सबसे बड़ा मसला जो फी जमाना दरपेश है वो ये है कि कुफर किसे कहते हैं हम जो बात कह रहे हैं जो अकीदा हम बयान कर रहे हैं बसा हाँ, अवकात उसे मालूम नहीं होता कि ये कुफरिया अकीदा है वो उसे बयान कर देता है अकीदा बना लेता है अब चूंकि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता वह तोबा नहीं करता वो अपने आप को मुसलमान समझ रहा है लेकिन इस्लाम से खारिज है अब ना उसकी तहजद कबूल होनी है ना नमाजें कबूल होनी है न उम्र कबूल होने न हज कबूल होने और बसा हाँ, अवकात ऐसा भी होता है कि जब शैतान किसी का अकीदा खराब करने में कामयाब हो जाता है अल्लाह उसके रसूल की वो गुस्ताखी कर ले किसी ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ का इनकार कर दे तो फिर शैतान उसे नमाजों से नहीं रोकता बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ लेता है वो बड़े लंबे लंबे रोजे रख लेता है क्योंकि शैतान को अब उसकी फिक्र नहीं होती शैतान को मालूम है कि अब ना उसकी नमाज कबूल होनी है ना रोजे कबूल होने हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की एक निशानी बयान फरमाई तो आपने फरमाया कि ऐसे लोग क़यामत तक पैदा होते रहेंगे और इनका आखिरी गिरोह जो है वो दज्जाल से जाकर मिल जाएगा तो आपने उनके मुतालिक क्या फरमाया कि वो दीन से बिल्कुल फारिग होंगे इनके दिल में दीन इस्लाम का जर्रा भी नहीं होगा ईमान नहीं होगा लेकिन फरमाया तहकीरून सलातकुम मा सलातिम व सियाम को मासियाम वो नमाजें ऐसी लंबी पढ़ेंगे कि तुम इनकी नमाजों को देखकर अपनी नमाजों को कमतर और हकीर समझोगे उनके रोजों को देखकर अपने रोजे कमतर समझोगे वो कुरान इतना पढ़ेंगे कि उनके कुरान को देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हें तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता वो कुरान और हदीस की ही बात करेंगे इसके अलावा कोई और बात नहीं करेंगे जबान के बड़े मीठे होंगे और सिर्फ दीन की बातें करेंगे लेकिन फरमाया कि वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनके हलक के नीचे नहीं उतरा होगा उन्होंने कुरान को समझा नहीं होगा और वो दीन से निकले हुए होंगे तो हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमात का जिक्र किया जिस गिरोह का जिक्र किया फरमाया ये दीन से बिल्कुल फारिग होंगे दीन इस्लाम से उनको कोई ताल्लुक नहीं होगा लेकिन लंबी लंबी नमाजें लंबे लंबे रोजे क्यों कि शैतान नमाज से रोकता किसको है उसे रोकता है कि शैतान को मालूम है कि नमाज पढ़ेगा तो उसको सवाब मिलेगा लेकिन जिसने कुफर बक दिया अब वो लंबी लंबी नमाजें पढ़े शैतान को कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि उसकी तो नमाज कबूल ही नहीं होनी आपने शायद देखा नहीं होगा हमारा ये मुशाहदा है कि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी कादियानी जो हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी सालों साल से तहजद कदा नहीं हुई रोजाना पांच पांच पारे कुरान की तिलावत करते हैं पंच वक्त नमाज जमात से पढ़ते हैं लेकिन आप बताइए क्या उनकी नमाज कबूल होनी है जो रसूलुल्लाह को आखिरी नबी न माने और ये कहे कि हजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है वो काफिर है अब वो चाहे तहजद पढ़े चाहे कुरान पढ़े तो ये हमारे वाले ही कुरान पढ़ते हैं कादियानी कलमा भी यही पढ़ते हैं ला अला मोहम्मद रसूल्ला और तहजद की तो इतनी पाबंदी करते हैं इतनी पाबंदी करते हैं कि जिन लोगों ने करीब से मुशाह किया है तो वह हैरान हो गए कि इनका बच्चा बच्चा तहजद गुजार है अब ये क्या बात यही है कि शैतान को मालूम है कि ताजुद पढ़े नमाजें पढ़े कुरान पढ़े इनका तो कबूल होना नहीं है तो शैतान इन्हें क्यों रोकेगा रोकेगा तो नमाज से उसे कि जिसके दिल में ईमान है और शैतान को मालूम है कि नमाज पढ़ेगा तो उसको सवाब मिलेगा तो शैतान की अवलिन कोशिश ये होती है कि उसका ईमान बर्बाद कर दे तो यहां पर इसी बात का जिक्र है मैं यर तदिन मिन कुमानदीनी फयमुत वह काफिर जो दीन इस्लाम से फिर जाए और मर जाए कुफर की हालत में सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे हमेशा जहन्नम में रहेगा सुर आल इमरान आयत नंबर 91 में इर्शाद है इन लदीन कफरू अमातु वहम कुफार जिन्होंने कुफर किया और कुफर की हालत में मर गए फलई युकबल अमिन आहदिम मिल उल अर्द जहबा वला विफ्तदा अलीम वमा लहुम मिन नासरीन तो कल बरोज क्यामत वो अगर ज़मीन के बराबर सोना जान छुड़ाने के लिए देना चाहें तो कबूल न किया जाएगा हमेशा के लिए उनके लिए दर्दनाक अदाब उनका कोई मददगार नहीं होगा दोनों आयतों में जो खास अमर है वो है ईमान की फिक्र कि अगर इंसान को मालूम हो कि मैंने ये कुफर बक दिया है मैं काफिर हो गया हूं तो तो इम्कान है कि वो तोबा कर लेगा ईमान ले आएगा लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात क्या है दीन से दूरी की वजह से इंसान कुफर बक भी देता है तोबा नहीं करता इसी हाल में मर गया तो वो तो अपने आप को नमाजी परहेजगार समझ रहा है वो तो समझ रहा है जनाब मैंने चार हज किए पच्चीस उम्र की है इतनी जक़ातें दी हैं लेकिन खात्मा ही ईमान पर न हुआ तो ना नमाजें कबूल होनी है ना जक़ात कबूल होनी है तो इसलिए दीनी मालूम का हासिल करना इंतहाई ज़रूरी और अहम है और ये दीनी मालूम हम कब हासिल करेंगे जब हमारे दिल में ईमान की कदर व मंजिलत पैदा होगी जब हमें फिक्र पैदा होगी कि ईमान की हिफाजत की फिक्र कितनी ज़रूरी है हमें ये महसूस हो जाए कि अगर हमारे जेब के अंदर एक लाख रुपए हों तो हम कहीं भी जा रहे हों न दाएं तरफ हमारी तवज्जो होगी ना बाएं तरफ ना आगे ना पीछे हम देख तो सामने रहे होंगे लेकिन फिक्र और तवज्जो जेब की तरफ होगी तो लाख रुपए पड़े हुए हैं ये तो एक लाख की मिसाल है एक करोड़ रुपए हो एक अरब रुपए हो एक खरब रुपए हो पूरी दुनिया की दौलत हो ईमान के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं दुनिया की सारी दौलत से हर चीज से बढ़कर ईमान की दौलत है इससे बड़ी कोई दौलत नहीं अब इस दौलत की हिफाजत की जितनी फिक्र पैदा होगी उतना ही बंदा इल्म दीन हासिल करेगा अगर ये ईमान बर्बाद हो जाए तो नुकसान देखें सूर्य आल इमरान आयत नंबर एक सौ छह में इशाद है यव मतबयद वजूह व तस्वद वजूह कयामत के दिन कुछ चेहरे वो सफेद होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे फामल लदी नस वद्दत वजूहम अकफर तुम बाद ईमान जिनके चेहरे काले होंगे उनसे कहा जाएगा क्या तुम वही हो ना कि ईमान लाने के बाद तुम काफिर हो गए फजू कुल आजाब अभिमा कुन तुम फुरून तो अब अजाब चखो इस वजह से कि तुम कुफर किया करते थे आइए ईमान की कदर हम अपने दिल में पैदा करने के लिए चंद आयतें और आदि से तयबा सुनते हैं ताकि हमें अपनी ईमान की हिफाजत की फिक्र मजीद पैदा हो सुने आल इमरान आयत नंबर एक सौ दो में इशाद है या अयोहल्लिन आमनुतकुल्ला हक तुकाती ही ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है वला तमो तुन्न इल्ला व तुम मुस्लिमों और तुम मुसलमान होने की हालत में मरना हर किस ना मरना मगर किस हाल में मरना मुसलमान होने की हालत में अब किसी को पता है कि मेरी मौत कब आएगी कि जब मौत आने लगे तो इस्लाम की हालत में जाए मतलब ये कि हर वक्त इस्लाम की हालत में ही रहना सुर आल इमरान आयत नंबर 85 फाइव वमई यब तगैर इस्लाम दीन फलन युक बल हो वह फिल आखिर लमिन खासरीन जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन इख्तियार करे तो उससे ये दीन कबूल न किया जाएगा और वह नुकसान उठाने वालों में होगा सुर निसा आयत नंबर एक सौ चौबीस में इशाद है वमई यामल मिन सालिहात मिन जकर औ उनसा वह मुमिन फ़लाखरून अलजन्ना मर्द या औरत को अच्छे अमल करे शर्त यह है कि वह मोमिन भी हो उसका अकीदा भी दुरुस्त हो तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा अल्लाह वालों ने ईमान की कदर हमारे दिलों में डाली हमारे दिलों में अल्लाह वालों ने ईमान की कदर डाली एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं किसी जगह से गुजर रहा था तो एक शख्स को देखा कि उसके पाँव में पीप हो चुका है और इसका पाँव जो है वो खराब हो चुका है अब जो उसे तकलीफ और दर्द हो रहा होगा वो तो वही जानता है बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो ये कह रहा था ए अल्लाह तेरा शुक्र है ए मालिक तूने जो मुझे नेमत दी है मैं इस पर तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने पूछा कि पाँव तो अंगूठे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल खराब हो चुका है ये जख्म बिगड़ चुका है आपको तो बड़ी तकलीफ होती होगी लेकिन आप आहो फुगा करने के बजाय आप कहते हैं मालिक तूने जो मुझे नेमत दी है मैं इसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकता तो क्या मामला है तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि जिसम सड़ जाए खराब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता एक ना एक दिन जिसम खराब होना ही है किसी को हमेशा दुनिया में रहना नहीं है एक ना एक दिन सबको फना है असल तो है ईमान की दौलत अल्लाह का शुक्र है कि पांव सड़ा है ईमान मेरा महफूज है मेरा दिल नहीं सड़ा ईमान की फिक्र और ईमान की कदर उन्होंने खुद भी की और हमारे दिलों में भी पैदा की कुरान मजीद फुकान हमीद सुर आल इमरान आयत नंबर आठ में इशाद है हमें दुआ करने का तरीका सिखाया गया कि अल्लाह के नेक बंदे किस तरह दुआ करते हैं रबना ला तुजिक कुलूबना बाद हदई तना अल्लाह तूने हमें हिदायत दी अब ये कर्म कर दे कि अब हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना रबना ला तुजिक कुलूबना बाद हदई तना अल्लाह तूने हिदायत तो दे दी अब इसी हिदायत पर साबित कदमी दे और हमारे दिलों को तू टेढ़ा ना करना कुरान मजीद फुकान हमीद में जादूगरों का किस्सा है कि जो मूसा सलात वसलाम से मुकाबले के लिए आए और मूसा सलात वसलाम की उन्होंने ताजीम की और कहने लगे कि मूसा आप इजाज़त दें तो हम अपना जादू दिखाएं तो मूसा सलात वसलाम ने फरमाया कि ठीक है आपको जो दिखाना है दिखाएं फिर मूसा सलात वसलाम ने अपना असर डाला तो वो अजदहा बन गया और सारे जादू के करतब को ले गया जादूगर सज्जे में गिर गए तो मुफसरीन ने फरमाया कि ये इन्हें ईमान की दौलत कैसे मिली हालांकि बज़ाहिर तो अक्ल काम नहीं करती कि वो मुकाबले के लिए आए थे तो सज्जा कर लेना और अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेना ये तो बज़ाहिर दुनियावी जिल्लत है फरमाया चूंकि ये थे तो गुनागार थे काफिर थे लेकिन उन्होंने जो मूसा सलाम की अदनासी ताजीम की ये ताजीम अल्लाह को महबूब हो गई और अल्लाह ने उन्हें ईमान की दौलत अता फरमा दी उन्होंने कहा ना कि आप इजाजत दें तो हम डालें या आप डालें अल्लाह को इनकी यादा पसंद आ गई और अल्लाह ने इन्हें ईमान की दौलत अता फरमाई फिर ने कहा लकत्यान अर्जुलकुम मिन खिलाफिन तुम लसलमकुम अजमाइन तुम दोबारा काफिर हो जाओ जल्दी से वरना मैं तुम्हारे बदन से कपड़े उतार दूंगा और फिर मैं तुम्हें खजूर के दरख्त पर ऊपर बड़े बड़े कील तुम्हारे जिसम में डालकर तुम्हें खजूर के तने पर फिट कर दूंगा और ये करूंगा कि तुम्हारा सीधा हाथ कंधे तक और उल्टा पांव वो रानों तक काट दूंगा और इस तरह तुम्हें जो है खजूर के तने पर रखकर बड़े बड़े कील तुम्हारे जिसम में गाड़ दूंगा तुम इस तरह तड़प तड़प कर मर जाओगे या तो ये कबूल कर लो या फिर इस्लाम को छोड़ दो उन्होंने कहा कि तुझे जो करना है कर हम अब दीन इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे अब जब वो उनके हाथ पांव काटने लगा जरा सोचे तो सही एक उंगली कट जाती है तो जान निकल जाती है वो जिंदा बंदों को पकड़कर हाथ पांव काटे जा रहे हैं और कीले गाड़ी जा रही हैं कुरान मजीद फुकान हमीद ने क्या फरमाया कि उस मौके पर उनकी जबान पर क्या दुआ थी जिसे ईमान की कदर मिल जाती है तो सबसे बड़ी नेमत की वो कदर करता है सुर आराफ आयत नंबर 126 रब्बना अफरीर अलैना सब्र ए अल्लाह हम पर सबर को उंडेल दे व तवफना मुस्लिमीन ए अल्लाह हमारी रूह इस्लाम की हालत में निकले नजात की उन्होंने फिक्र नहीं की कि फिर उनकी तकालीफ से हमें नजात मिले फिक्र यही है व तवफना मुस्लिमीन कि ए अल्लाह तू हमें मौत इस्लाम की हालत में अता फरमा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सूर्य यूसुफ आयत नंबर एक सौ एक आप जब मिस्र के बादशाह बन गए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को लेकर आ गए पूरे खानदान को लेकर आ गए तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया दुआएं मांगी तो वहां पर आपने ये भी दुआ की तवफ़नी मुस्लिमों अलहनी बिसालहीन अल्लाह तो मुझे ईमान की सलामती के साथ दुनिया से रुखसत होना नसीब फरमा हालांकि वो तो नबी हैं लेकिन फिर भी ईमान की सलामती की दुआ आप फरमा रहे हैं सुर कहफ में अल्लाह वालों का जिक्र है और कहफ गार को कहते हैं जिस गार के अंदर उन अल्लाह वालों ने पना मांगी यानी पना ली और उस गार के अंदर वो चले गए उन्हीं की अजमतों की वजह से इस सूर्य मुबारक का नाम सूर्य कहफ है गार वाली सूरत तो आप देखें उसके अंदर ये अल्फाज हैं इज अवल फित इलकाफी फ़कौल रबना मिल्ल दुन का रहमत लना मिन अमरिना रशदा जब इन अल्लाह वालों ने गार में पनाह ली तो ये दुआ की मालिक को मौला अपनी तरफ से हमें रहमत अता फरमा और हमारे मामले को आसान कर दे मामला क्या था उन्होंने अपना घर बार छोड़ा था सब कुछ छोड़ा था सिर्फ और सिर्फ ईमान की हिफाजत के लिए गार के अंदर वो जाकर लेट गए जहां पर जंगल वीरान है क्यों लेटे अपने ईमान की हिफाजत के लिए तो ईमान की हिफाजत का दर्ज कुरान ने दिया अहदीस तैयबा ने दिया और साहबा कराम अलीम रिदवान की जिंदगियां देखें तो उन्होंने ईमान की हिफाजत की खातिर हर किस्म की तकलीफें बर्दाश्त की हजरत खालिद बिन सईद उमावी जब इस्लाम लाए तो इनका जो बाप था वो मुशरक था उसने आपको कैद कर दिया खाना पीना बंद कर दिया हौलनाक गर्मी थी उस गर्मी में उसने आपको पत्थरों पर लिटाया बाप होकर और इतना डंडे से मारा कि डंडा टूट गया आखिरकार वो मार मार के थक गया तो आपने यही कहा ए मेरे बाप तू मार मार के मेरी जान ले ले लेकिन मैं ईमान को नहीं छोड़ सकता हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तु आपकी पीठ को हजरत उमर ने देखा तो फरमाया ए खब्बाब ये तुम्हारी पीठ पर सफ़ेद सफ़ेद दाग कैसे हैं तो हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तु ने यह अर्ज किया यह अमीर अलमोमिन जब हम ईमान लाए तो उस वक्त कुफर का दौर दौरा था तो काफरों ने हमारा ईमान छीनने के लिए पीठ नंगी करके जलते हुए अंगारों पर मुझे लटा दिया और ऊपर भारी पत्थर रख दिया इतनी मेरे जिसम से चर्बी निकली कि उस चर्बी से अंगारे बुझ गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ईमान की सलामती अता फरमाए हजरत साद रदी अल्लाह तहों की माँ उसने खाना पीना छोड़ दिया और कहा कि साद तू दोबारा काफिर हो जा वरना मैं भूखी मर जाऊंगी धूप में बैठी रहती भूख से उसकी हालत वो मरने के करीब हो गई कहने लगी कि देख मैं मर जाऊंगी दुनिया ये कहेगी कि साध की माँ साध की वजह से मर गई हजरत साद को अपनी माँ से मोहब्बत भी बहुत थी तो आपने एक दिन देखा दो दिन देखा फिर आखिर आखिरकार अपनी माँ के पास आए और माँ से कहा माँ एक बात सुन ले मुझे तुझसे मोहब्बत तो है माँ होने के नाते मैं तुझे मरता हुआ देख तो नहीं सकता मगर जहां तक ईमान का ताल्लुक है अगर तेरे जिसम में हजारों जाने हों और एक एक करके सारी निकल जाएं फिर भी मैं रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ूंगा हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा रदी अल्लाह तु आप शाम की एक जंग में गए तो 80 मुसलमान कैदी हुए तो हुआ ये कि जब उठाकर एक मुसलमान जो कैदी था उसको खोलते हुए गरम जो तेल में डाला गया तो वो फौरन जो है कबाब बन गया तो एक मुसलमान फौजी रोने लगा तो उस वक्त के बादशाह ने जो ईसाई बादशाह था उसको करीब बुलाया और कहने लगा तुम रो नहीं तुम अगर ईसाइत कबूल कर लोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अभी भी तुम्हारी नजात का वक्त है तो उसने कहा बेवकूफ मैं इसलिए रो रहा हूं मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पास एक ही जान है अगर ईमान की हिफाजत में और रब की मोहब्बत में मेरे पास लाखों जाने होती तो सब आज मैं निछावर कर देता हजरत बिलाल रदी अल्लाह तु के वाकयात मशहूर मरूफ हैं कैसी कैसी तकलीफें आपने ईमान की हिफाजत के लिए उठाई और कैसी कैसी आपको तकलीफें दी गई कहने का मकसद ये है कि सबसे अहम चीज सबसे अहम दौलत ईमान की दौलत है लेकिन जब कोई दौलत बगैर मेहनत के मिल जाए तो इंसान कदर नहीं करता बाप का अच्छा कारोबार हो तो आमतौर पर आप देखते हैं औलाद जिसने मेहनत मशक्क़तें नहीं उठाई वो बाप के कारोबार की कदर नहीं करते और जो रेड़ी लगाता हो वो ठेला लगाता हो और लगाते लगाते लगाते एक छोटी सी दुकान पर पहुंचा हो उसे उस दुकान की कदर होती है कि रेड़ी लगाने और ठेला लगाने से कितनी बेहतर है दुकान लेकिन जिस बच्चे ने पैदा होते ही वो दुकान पाई है या बंगला पाया है उसे ना बंगले की कदर होगी ना दुकान की कदर होगी इसीलिए बात समझदार लोग ये करते हैं कि अपने कारोबार में अपने बच्चे को नहीं बिठाते उसको नौकरी पे लगाते हैं कहते हैं अभी नहीं अभी ये नौकरी करे धक्के खाए दुनिया भर के फिर हमारी दुकान पर आकर बैठेगा तो उसे कदर होगी कि बाप की दुकान पर बैठने में कितना मजा है वरना अभी तो ये कदर नहीं करेगा तो जब वो एक साल या छह महीने नौकरी करेगा और देखेगा कि नौकरी किस कदर मुश्किल अमर है तो वो अपने कारोबार की कदर करेगा तो ये तो एक दुनिया की हकीर सी मिसाल है दुनिया की क्या हैसियत है तो ईमान चूंकि बिन मांगे मिल गया साहबा कराम अलीम रिदवान ने ईमान के लिए बड़ी जिद्दोजहदें की फिर ईमान के तहफ़ के लिए बड़ी जिद्दोजहद की हमें बिन मांगे ईमान मिल गया रसूलुल्लाह का दामन मिल गया और कुरान मिल गया हमारे दिल के अंदर उसकी कदर नहीं है अगर कदर पैदा हो जाए तो हम कभी भी ईमान की इस तरह बेकदरी ना करें कि अल्लाह और उसके रसूल का मामला हो जन्नत का जिक्र किया जा रहा हो या जहन्नम का जिक्र किया जा रहा हो क़यामत की होलनाकियों का जिक्र हो कब्र का जिक्र हो दीनी मामला का जिक्र हो तो उसमें जबान खोलने से पहले हजार मरतबा सोच लेना चाहिए कि कहीं तोहन या बेदबी का कोई पहलू ना निकले और मेरा ईमान बर्बाद ना हो जाए तो आज हमें ये फिक्र पैदा करनी है और ये बहुत अहम फिक्र है कि हम इस बात को समझ लें कि अगर हम फुटपाथ पर बैठे हैं शादी की गैदरिंग में है दोस्तों की गैदरिंग में है दुनियावी गुफ्तगु करें लेकिन जब दीनी गुफ्तगु होने लगे तो मोहताद हो जाए और किसी ऐसी बात की तस्दीक न करें जिसका आपको इल्म ना हो और कोई ऐसी बात ना कहें जो अकल से हो क्योंकि कई बातें ऐसी है जो अकल में कुछ आता है और शरीयत में कुछ और होता है हमारी अकलें नाकिस हैं और एहतियात करनी चाहिए कि अल्लाह के बारे में रसूलुल्लाह के बारे में ख़ास तौर पर जरासी भी बेदबी हो जाए जिसे लोग ज़रासी कहते हैं सारी ज़िंदगी के अमाल बर्बाद हो जाएंगे अब एक अदना सी मिसाल लें साबित बिन कैस रदी अल्लाह तु साबी रसूल हैं साबी रसूल रसूलुल्लाह की बारगाह में आते थे बादब होकर आते थे लेकिन इनके कान के अंदर मसला था ये ऊंचा सुनते थे और आप जानते हैं जो ऊंचा सुनता हो वो बोलता भी ऊंचा है तो ये रसूलुल्लाह के दरबार में आते थे तो ऊंचा बोलते थे अब बताइए कोई है कोई मना है जब इंसान की मजबूरी हो तो क्या करे वो तो वो आते उनकी आदत थी ऊंचा सुनते थे अब ये रसुल्ला की बारगाह में आते तो रसूलुल्लाह जब कलाम फरमाते तो ये ऊंचा जवाब देते हुजूर से सवाल करते तो ऊंचा करते इनका कोई कसूर नहीं है लेकिन कुरान की आयत नाजिल हो गई और सुर हजूरात में फरमा दिया गया कि ईमान वालों ला तरफ असवातकुम फौक सौतिन नबी है ईमान वालों एहतियात करो अपनी आवाज रसूलुल्लाह की आवाज पर बुलंद मत करो वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी तो आपने देखा कि रसूल्लाह की बारगाह में गलती जानबूझ कर की जाए वो तो दूर की बात है ना दानिश्ता गलती हो जाए तो वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं है वो भी काबिल माफी नहीं है तो वो साहब ही जाकर घर बैठ गए रोने लगे और कहने लगे कि ये आयत तो मेरे बारे में नाजिल हुई है मैं तो बर्बाद हो गया मैं तो बोलता ही ऊंचा हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कहाँ है नजर नहीं आते साहब कराम अलहिम रिजवान ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मामला है तो आपने फरमाया कि उन्हें बुलाओ वो तो मोमिन है वो तो हमसे मोहब्बत करता है आपने उन्हें प्यार दिया मोहब्बतें दी लेकिन वो फिर बहुत एहतियात करते थे रसूलुल्लाह की मजलिस में बोलते ही नहीं थे कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जबान ऊंची हो जाए फिर सिद्दीक अकबर और हजरत उमर रदी अल्लाह तो वो इतनी एहतियात करते थे कि बस अवकात रसुल्ला फरमाते ज़रा ऊंचा बोले आप क्या कह रहे हैं तो अल्लाह तबारक वाली ने उनकी तारीफ में कुरान की आयत नाजिल फरमाई सूर्य हजूरात में और फरमाया कि जो ऐसा करते हैं अल्लाह ने उनके दिलों को ईमान से भर दिया हालांकि देखा जाए तो कोई हमारे सामने आकर बहुत आहिस्ता बोले तो उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए भाई आदमी ढंग से बात करे जरा मुनासिब वॉल्यूम में लेकिन यहां यह मसला नहीं है यहां मसला ताजीम मुस्तफ़ा का मसला है तो यहां ऊंचा बोलना जब बेख्याली में था तो इसकी भी मजम्मत आ गई और आहिस्ता बोलना डर के मारे था तो इसकी फजीलत पे कुरान मजीद फुकान हमीद ने आयत को नाजिल फरमा दिया इसी तरह सूर्य हजूरात के अंदर आप देखें हजूरात जो है वो हजरों को कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि के नौ हजरे थे अजवाज मुतारात के और उन हजरों पर दरवाज़ा नहीं था अब आप बताइए अगर आपके घर पर दरवाज़ा ना हो और कोई आपसे मिलने के लिए आए तो क्या करेगा दरवाजे पर दस्तक तो दे नहीं सकता दरवाज़ा तो है नहीं तो आवाज ही देगा और वो कहेगा कि अब उसे पता नहीं नौ हुजरों में से किस हुजरे में रसूलुल्लाह है तो दूर से आवाज देगा बज़ाहिर बुलाने का तो यही तरीका है कोई आकर आपको एक घर पे दस्तक दे दे एक दफा दस्तक दे दूसरी दफा दस्तक दे तीन दफा दस्तक दे और आप जवाब ना दें वह चला जाए और वो नाराज ना हो यही तरीका है लेकिन आप सूर्य हुजरात की तफसीर और तर्जमे को देखें तो वाज तौर पर यह कह दिया गया कि जब वो आए और उन्होंने आकर आवाज़ दी और कहा या रसूल अल्लाह हम आपसे मिलने के लिए आए हैं आप हमें अपना जलवा दिखा दें तो कुरानी मजीद फकान हमीद ने इनकी मजम्मत फरमाई और फरमाया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था इंतज़ार करते वो कि रसूल्ला जब बाहर तशरीफ़ ले आते तो फिर क्या होता खुद ही दीदार हो जाता हजूर सल्लल्लाहु वसलम को बाहर निकलने की तकलीफ उन्होंने क्यों दी कुरान मजीद फुकान हमीद में एक आयत करीमा है या अयोल्लदीन आमन तकुलना कुरान में या अयोल्लदीन आमन अट्ठासी मरतबा है एटी एट टाइम्स और इसमें यह सबसे पहला है और इसमें डायरेक्ट मुसलमानों से खिताब है और दर्स यह दिया गया है कि ए ईमान वालों रसूल्लाह की तजीम करो ताजीम मुस्तफ़ा का इसमें दर्स है तो फरमा यादीन आमनला तकुल राइना वकुल उनजुरना ईमान वालों राइना मत कहो उन जुरना कहो इस आयत करीमा की जब तफसीर आप सुनेंगे तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह और उसके रसूल के मामला में बात करते वक्त कितनी क्या होनी चाहिए एहतियात होनी चाहिए और कैसे मामला होते हैं जिसका जो दिल चाहता है वो वो बोलता ही रहता है और इसमें एहतियात नहीं की जाती है तो फरमाया कि इसकी एक तफसीर तो यह है कि इबरानी जबान में राइना का मतलब कुछ और था और अरबी जबान में राइना का मतलब कुछ और था अरबी जबान में इसके माना अच्छे थे और इबरानी जबान में इसके माना बुरे थे और जबानों के फर्क से माना में रद्द बदल तो होता है जैसे हमारे यहां लफ्ज नेक या अच्छे को कहते हैं और अरबी में किसी को कहा जाए अंता नेक तो वो नाराज हो जाता है क्योंकि उनके यहाँ अरबी में नेक के माना अच्छे नहीं है यहूदी क्या करते थे कि वो रसूलुल्लाह की वारगा में रायना आकर कहते थे और नीयत जो है वो दूसरे माना की करते थे राइना के जो अरबी में माना है आप हमारी रियायत फरमाइए अगर साहबा कराम किसी बात को रिपीट करवाना चाहते तो कहते या रसूल अल्लाह रायना या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाए बात को दोबारा रिपीट कर दे तो ये यहूदी भी आकर कहते या रसूल अल्लाह राइना या मोहम्मद रायना लेकिन वो माना फिर दूसरा लेते थे जो इनकी जबान के अंदर माना होता था हजरत सात बिन मुआज रदी अल्लाह तु आपने एक दिन यहूदियों को देखा कि वापस में हंस रहे हैं कहते हम इनके मुंह पर बुरा कहते हैं कोई पकड़ने वाला ही नहीं है तो हजरत साद बिन मुआज को गुस्सा आया और आपने तलवार खींची और फरमाया कि अब तुम में से किसी ने रायना कहा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा तो वो कहने लगे आप हमें डांटते हैं साहबा भी कहते हैं तो हजरत साद हजूर की बारगा में आए तो यह आयत करीब नाजिल हुई या यूहलरीना मनुल्ला तकुल रागीना ए ईमान वालो राइना कहना ही मत अब तुम्हें क्या कहना है उन जुरना तुम कहो या रसूल अल्लाह हम पर नजर करम फरमाइए मऊ और बार बार दोहराने की तकलीफ मत दो पहले ही गौर से सुनो वलिल काफरीन आदाब मुगीन काफरों के लिए जलील कर देने वाला अजाब है तो पता ही चला कि अगर किसी लफ्ज के दो माना हो अगर किसी लफ्ज के दो माना हो एक माना अच्छा हो और एक माना बुरा हो तो वो रसूलुल्लाह के दरबार में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हजरत साद बिन मुआज ने जो जज्बात का इजहार किया रसूलुल्लाह की मोहब्बत का अल्लाह ने उन्हें सिला के आता फरमाया कि हज़रत साद बिन मुआज गजवा खंदक में शहीद हुए तो इससे पहले वो ज़ख्मी हुए और तकरीबन पच्चीस दिन आप ज़ख्मी रहे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खेमा जो है अपने हुजरे के करीब बनाया और हज़रत साद की किस्मत पर कुर्बान जाएं सुबह रसूलुल्लाह तशरीफ ले जाते शाम को तशरीफ ले जाते और फरमाते हैं साद कैसी तबीयत है तुम्हारी जब हजरत साद का विशाल हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जबरील अमीन हाजिर हुए और अर्ज के रसूलुल्लाह आसमानों को देखें आपने आसमानों को देखा तो जमीन और आसमान के सारे किनारे जो हैं फरिश्तों से भरे हुए थे जबरील ने अर्ज की कि ये वो फरिश्ते हैं जो आज तक जमीन पर नहीं उतरे ये हजरत साद की रूह को लेने के लिए आए हैं रसूलुल्लाह बड़ी तेजी के साथ चले हजरत साद के घर की तरफ क्योंकि बराबर में जो हुजरा था वहां से लोग आपको लेकर चले गए थे अपने कबीले रसूलुल्लाह इतना तेज चले कि साहबा कहते हैं इतना तेज चलता हुआ हमने कभी नहीं देखा और तेज चलने से मुराद है कि जमीन आपके लिए समेट दी जाती जब आप इरादा फरमाते साहबा कहते हैं कि बाद में हमने पूछा तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने जब देखा कि सत्तर हजार फरिश्ते उतर रहे हैं तो मैंने ख्याल किया कि अगर हमें ताखीर हुई और सात की रूह कब्ज हो गई तो फरिश्ते इन्हें उठा जाएंगे और वो गसल देंगे जैसे हजरत हंजला को फरिश्तों ने गसल दिया तो मैं ये चाहता था कि गसल देने में मैं खुद शरीक हो जाऊं क्या हजरत साद के नसीब है कि रसूलुल्लाह इन्हें गसल देना चाहते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन मुआज के कमरे में दाखिल हुए तो आप इस तरह चल रहे थे कि उंगलियों के बल पर यानी पंजों के बल चल रहे थे और बड़ा देख देख कर कदम रखते बाद में साहबा ने पूछा तो आपने फरमाया कि पूरा कमरा फरिश्तों से इतना भरा हुआ था कि मुझे चलने की जगह नहीं मिल रही थी हजरत साद को आपने अपनी गोद में लिया लोगों ने कहा हजरत साद का इंतकाल हो गया है वो शहीद हो चुके हैं बाद ने कहा बेहोश हैं रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में लिया और इनके सर पर अपने मुबारक उंगलियों को जब फेरा तो इनकी आंख खुली उन्होंने रसूलुल्लाह का दीदार किया और रसूलुल्लाह को देख कर मुस्कराये और इसी हाल में रसूलुल्लाह के जलवों में इनकी रूह परवास कर गए फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद को जब कबर में रखा अपने दस्ते मुबारक से तो क्या खुश नसीबी है हजरत साद की और फिर आपने इस तरह कहा अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह आपने तकबीर और, और तस्बी का जिक्र किया और फरमाया मुबारक हो हजरत साद के लिए कब्र ताहद निगाह वसी हो चुकी है और जब हजरत साद की रूह अर्श पर पहुंची तो आपने फरमाया कि हजरत साद की रूह के इस्तकबाल में अर्श खुशी से झूम उठा और जब हजरत साद को रसूलुल्लाह कब्र में रख चुके मट्टी दे चुके तो आपने क्या दुआ की सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह ए अल्लाह साथ से मैं राजी हूं तू भी इससे राजी हो जा ए अल्लाह साथ से मैं भी राजी मैं राजी हूं तू भी राजी हो जा ये सारी फजीलतें क्यों मिली कि आपने दो मौके पर एक तो ये कि जब यहूदियों को सुना राइना कहते हुए तो आपने कहा तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा अगर किसी ने राइना कहा तो ये जो इश्क रसूल का आपने इजहार किया और दूसरा मौका यह था कि गजब बदर के मौके पर जब रसूलुल्लाह ने मशवरा तलब किया तो हजरत साद बिन मुआज आप औस कबीले के सरदार थे अंसार का जो एक कबीला है औस और खजरज तो आपने अपने कबीले की तरफ से हुजूर की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमसे मशवरा तलब न करें आप हमें हुक्म दीजिए जिससे आप सुलो करना चाहें सुलो करें जिससे आप जंग करना चाहें जंग करें आप हमें दरिया में कूदने का हुक्म दें हम कूद जाएंगे हम आपके कदमों पर जाने निछावर करेंगे तो हुजूर ने मुस्कुरा के उन्हें देखा तो ये था कि ए अल्लाह मैं साथ से राजी हूं तू भी राजी हो जा तो एक तो ये तफसीर है दूसरी तफसीर यह है कि राइना जो लफ्ज है बाज यहूदी ये करते थे कि इस लफ्ज को खींच के पढ़ते थे राइना और अरबी जबान में थोड़ा सा फर्क हो जाए तो माना बदल जाते हैं जैसे सिगातल्लदीन अनअमत अलैहिम अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया आमता की जगह अनअमतू पढ़ दे तो माना हो जाएगा उनके रास्ते पर चला जिन पर मैंने इनाम किया तो बड़ा जमीन आसमान का फर्क है उससे बड़ा फर्क है तो वो राई करते थे और जब इसको खींच दिया जाए तो इसके माना चरवाहे के होते हैं नऊजुबिल्ला तो वो जबान को मरोड़ कर इस तरह कहते थे कि समझ ना आए और कोई ये समझे कि शायद इन्हें ये चूंकि इबरानी लोग हैं इन्हें अरबी नहीं आती तो अरबी बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है इस तरह करते थे लेकिन मकसद जो है वो रसूलुल्लाह की बेअदबी थी तो फरमाया कई ईमान वालों तुम उस लफ्ज का इस्तेमाल ही खत्म कर दो कि जिस लफ्ज को बुरी सोच वाले बुरे अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं अब तुम वो लफ्ज ही ना कहो बल्कि कहो या रसूल अल्लाह जुरना या रसूल अल्लाह हम पर नजर कर्म फरमाइए तीसरा फरमाया कि राइना जो है इसमें एक और खराबी ये थी कि ये बाब मुफाला से है सर्फ जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि सर्फ में एक बाब होता है बाब मुफाला बाब मफाला का मतलब यह होता है कि दोनों तरफ से मामला हो जिस साफा यूसाफ मुसाफाहतन हाथ मिलाना तो ये बाब मफाला से है तो आप अगर हाथ मिलाएं और सामने वाला हाथ आप से दूर हटा ले तो मुसाफा हो सकता है आप भी हाथ मिलाएंगे वो भी हाथ मिलाएगा तो दोनों हाथ मिलाने के अमल में शरीक होंगे तो बाबे मुफाला का ये खासा है कि दोनों तरफ से अमल होता है तो साहबा कराम की नीयत तो अच्छी थी लेकिन इसका एक और माना यह बनता था राइना या रसूल आप हमारी रियायत करें तो हम आपकी रियायत करेंगे ये इस माना की नीयत तो न थी लेकिन एक माना इसका यह भी बनता था तो मुसलमानों को मना कर दिया गया कि इस लफ्ज को तुम हरगिज इस्तेमाल न करना क्यों इस्तेमाल न करना कि कहीं बराबरी का शुबा पैदा ना हो कि राइना ये लफ्ज उसके सामने कहा जाता है जिसको इंसान बराबर समझता हो और उन जुर्ना ये लफ्ज उसके सामने कहा जाता है जिसे वो अपना आका और वो मौला समझता हो ये आजी का लफ्ज है फिर दूसरी बात यह कि राइना में एक तरह से ऑर्डर का माना पाया जाता है और उन जुर्ना में ये आजी इंकसारी और अर्ज का माना पाया जाता है साहब कलाम वाले की मुरिदान जब वो रसुल्ला सल्लाह वसलम की बारगाह में गुफ्तु करते तो कितनी एहतियात करते किसी ने क्या खूब कहा अदब गाहेस्त जेर आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुने दो बा यजीद ईजा कि अर्श से नाजुक तर आसमान के नीचे अर्श से नाजुक तर ये बारगाह है रसूलुल्लाह की बारगाह कि हजरत जुनेद बगदादी और बायजीद बिस्तामी भी इस दरबार में आते हैं तो सांस भी एहतियात से लेते हैं कि कहीं ईमान बर्बाद ना हो जाए साहब नाम अली मुरिदवान यूं गुफ्तु करते तो मामला कुछ और होता और रसूलुल्लाह के मुतालिक गुफ्तु होती तो मामला कुछ और होता जैसे कि एक मिसाल है कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह तुम अब हजूर के चचा हैं और हजूर फरमाते हैं अमर रजुल सिन अबू अबी के जो किसी आदमी का चचा होता है वो बाप की मिसल होता है बाप की तरह होता है और हजरत अब्बास को एक मौके पर रसूलुल्लाह ने फरमाया रुद्दू इलैया अबी अब्बास आपने अब्बास को अपना बाप भी करार दिया अपने वालिद करार दिया तो वैसे भी चचा की इज्जत है और रसूलुल्लाह ने उन्हें इज्जत अता फरमाई हजरत अब्बास और रसूलुल्लाह की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था हजरत अब्बास की विलादत दो साल पहले थी तो इसलिए किसी ने पूछा अंत अकबर अबिन नबी हूं ए अब्बास आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं अब हमसे कोई पूछ ले मसलन चचा से पूछ ले कि भाई आप बड़े हैं कि आपका भतीजा बड़ा है तो चचा जाहिर बड़े आराम से कह देगा जी मैं बड़ा हूं लेकिन यहां पर मामला क्या था रसूल्लाह के बारे में गुफ्तगु करते हुए साहबा कराम बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं कि कहीं अल्लाह ताला नाराज हो जाए और ईमान बर्बाद हो जाए तो उन्होंने कहा हुआ अकबर उमिनी बड़े तो रसूल्लाह ही हैं वह अना वलिद तो कबल हूं हाँ ये हुआ कि मैं रसूल्लाह से दो साल पहले पैदा हुआ हूं इसी तरह हजरत बराबिन आजिब रदी अल्लाह तला सुना रहे थे उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चार जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं अभी साहब कराम अली मरिदवान की आदत थी वो आदत ये थी कि साहब कराम अली मरिदवान जब वो हदीस को बयान करते तो वही अंदाज इख्तियार करते जो उन्होंने रसूलुल्लाह को देखा वो कहते भाई तुमने रसूलुल्लाह को नहीं देखा हमने देखा है तो देखो हुजूर ने हदीस इस तरह बयान की इस मौके पर मुस्कुराए इस मौके पर खामोश हुए आपके हाथ के इशारे ये थे तो वो रसूलुल्लाह की हदीस भी बयान कर रहे थे और आपकी अदा की आपकी अदा को अदा भी कर रहे थे तो आपने कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि चार जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी जायज नहीं अब ये आपने कह तो दिया लेकिन फौरन ख्याल गुजरा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के बराबर कोई मेरी उंगलियां न समझे तो उन्होंने फौरन कहा असा असाबी अक्सर उमिन असाबी ये मैं तो सिर्फ समझाने के लिए इशारा कर रहा हूं वरना रसूलुल्लाह की उंगलियों के सामने मेरी उंगलियों की कोई हैसियत नहीं है ये तो वो उंगलियां हैं कि जिनसे पानी के चश्मे बहते थे और ये तो वो उंगलियां हैं कि जो इन हौज कौसर पर जाम कौसर से लोगों को सैराब करेंगे लेकिन अगर आप हिफ्जुल ईमान तकवीयतुल ईमान तहजीर उन्नास इस तरह की किताबों का अगर आप देखें जो अंग्रेजों के दौर में लिखी गई तो उसके अंदर जर्रा बराबर भी एहतियात का पहलू नहीं है कहीं लिखा है कि हम भी या तो हमारी तरह बशर होते हैं तो इनकी ताजीम करो बड़े भाई जैसी सो उसमें भी कमी करो तो कहीं जो है अंदाज ये है कि नबी अक्रम सल्ला अलैहि वसल्लम को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं कहीं लिखा है कि हुजूर भी मरकर मट्टी में मिल जाएंगे मिजाले कहीं हुजूर के इल्म गैब को जानवरों से तशबी दी गई है तो हम अब बताइए कि ऐसा शख्स कि जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो क्या वो ऐसा कलाम लिख सकता है क्या वो इस अंदाज की गुफ्तु पढ़ सकता है मोमिन ऐसे लोगों से अपने आप को बचाए कि जो रसूल्ला सल्ला वसलम के बारे में तबसरा करते हुए जर्रा बराबर भी वो कोई लिहाज और उसका ख्याल नहीं रखते इसी तरह देखें अगर किसी मजलिस के अंदर ये सवाल हो कि बताइए आज कौन सा दिन है तो आप कहेंगे जी इतवार का दिन है जी अच्छा बताइए महीना कौन सा महीना बताएंगे कौन सा शहर है तो आप शहर बताएंगे लेकिन साहब कराम वाली मुरिदवान किस कदर एहतियात करते थे कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु वसलम ने नौ जिलहिजा को हज फरमाया मैदान आरफात में फिर आपने दस जिलहिजा की जो रात थी यानी नौ दस की दरमियानी रात मुजदलिफा में गुजारी दस जिलहिजा को सुबह आपने कंकरियां मारी कुर्बानी की कुर्बानी करने के बाद मक्के मुकर्रमा में तवाफ़ ज्यारत के बाद आप खिताब फरमा रहे हैं एक लाख और कमो बेश चौबीस हजार साहब कराम जमा है रसूलुल्लाह फरमाते हैं अतदरूना अय यौमिन हाजा ए मेरे साहबा तुम जानते हो आज कौन सा दिन है कोई एक दो साबित तो नहीं थे एक लाख चौबीस हजार का नाम जमा है उनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा या रसूल ये आज जो है वो ईद का दिन है यौमुन नहर है हमने कल ही तो हज किया है आज ही तो सुबह हमने कंकरियां मारी हैं आज तो यौमुन नहर है सब ने कहा बैक जबान में अल्लाह व रसूल व आलम अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है आपने फरमाया तदरू ना अय्या शाहरिन हादा भाई तुम जानते हो कि ये कौन सा महीना है तो किसी ने नहीं कहा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो हम हज कर रहे हैं और हज तो आप जानते ही हैं कि जिल हिज्जा ही में होता है और किसी और महीने में तो हो नहीं सकता किसी ने नहीं कहा साहब कराम की वो क्या तरबियत की गई कि उन्होंने इस अंदाज में कहा अल्लाह तला का उन पर कितना फजल था कि बैक वक्त सब बोल पड़े अल्लाह रसूल आलम अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानता है आपने फरमाया अतदरूना अय्या बलदिन हाजा वो तो जानते हो कि ये आज जिस शहर में हम खड़े हैं ये शहर कौन सा है कहते जनाब अभी तो तवाफ किया है तो तवाफ तो मक्के में ही होता है या रसूलुल्लाह क्या आप भूल गए हैं आपकी तवज्जो नहीं है यहाँ तो यही है ना कि जब रसूलुल्लाह कोई सवाल करें तो बदअकीदा शख्स फौरन कहते हैं रसूलुल्लाह को पता ही नहीं था यह वो भूल गए थे तो साहबा कराम का यकीदा नहीं था वो जानते थे कि रसूलुल्लाह का सवाल किसी मसलहत की वजह से है पूछा तदरूना अय बलदिन हाजा तो जानते हो ये कौन सा शहर है अल्लाह रसूल आलम अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानता है क्या अकीदत और मोहब्बत और क्या अंदाज है इसी तरह देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बसा अवकात सवाल किया जाता और आप खामोश हो जाते तो आज का बदअकीदा या जो दीन से दूर है वो तबसरा क्या करता है देखो रसूलुल्लाह फलां सवाल के जवाब में खामोश हो गए पता नहीं था जब फलां सवाल के खामोश हो गए पता नहीं था लेकिन साहब करम की सोच देखें अकेद जहां सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया इन मिम्मा अखाफ अलैकुम मिन बादी मा यफ्तहु अलैकुम मिन ज़हरति दुनिया मुझे सबसे ज्यादा खौफ इस बात का लगता है कि तुम पर दुनिया अपनी जीनतों के साथ खोल दी जाएगी माँ अखाफ अलैकुम अन तुशरिक बादी हाँ तुम मेरे बात शिरक नहीं करोगे मुसलमानों में शिरक आम नहीं होगा हाँ दुनिया की मोहब्बत आम हो जाएगी तो एक साहबी खड़े हुए अर्ज की या रसूल अल्लाह औ या तिल खैर शर माल को तो खैर कहा गया तो या रसूल अल्लाह क्या माल खैर होकर वो बुराई को लाएगा ये कैसे होगा ये इन्होंने सवाल किया फसा कतन नबी सल्लल्लाहु आपने जवाब नहीं दिया सर को झुका लिया साहबा कराम एक दूसरे को इशारे करने लगे और उस शख्स को मलामत करने लगे कहने लगे कील लहू माँ शानु का तुकल्लिम नबी या वला युकल्लिमो का अरे तू कितना बदनसीब है कि तूने रसूलुल्लाह से ऐसा सवाल किया कि रसूलुल्लाह को नाराज कर दिया आपने तेरे सवाल का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा सवाल करने से पहले सोचना तो था तू रसूलुल्लाह से कलाम कर रहा है और रसूलुल्लाह तुझसे कलाम करना पसंद नहीं करती यानी वो तावील क्या कर रहे हैं ये नहीं कह रहे हुजूर को नहीं पता जवाब बल्कि कह रहे हैं कि सवाल ऐसा गलत मौके पर किया कि इसका जवाब देना रसूलुल्लाह ने पसंद ही नहीं किया ये बड़ा बदनसीब है तो वो रो पड़े फिर काफी देर के बाद आपने फरमा आई न साइल आपने फरमा सवाल करने वाला कहाँ है तो आपका जो प्यार और मोहब्बत का अंदाज था उनके चेहरे पर खुशी के आसार आ गए और फिर साहबा कहते अब हम समझे कि रसूलुल्लाह ने सवाल तो पसंद किया था लेकिन जवाब में जो ताखिर थी वो किसी मसलियत की वजह से थी कि सवाल हो जाए और कुछ देर के बाद जवाब आए ताकि सवाल नक्श हो फिर जवाब भी क्या हो जाए नक्श हो जाए तो आपने फरमाया कि माल तो खैर है लेकिन जब इंसान माल की मोहब्बत में मुबला होता है तो उसकी मशगूलियात जो हैं उसे दीन से दूर कर देती हैं तो इस तरह जो है खैर जो है शर लाता है तो यहाँ पर देखें साहब कराम का ये अंदाज है कि वो इस मामले के अंदर अपनी ये सोच रखते हैं आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी ये नशिश तहफुज ईमान नशिश है और आज का जो मौजू है वो ये है कि हम दीन के बारे में खसूस अल्लाह और उसके रसूल के बारे में जो बात खोलें अपनी ज़बान तो थोड़ी देर सोच लें सो मरतबा सोच लें कि इस जुमले में कहीं मेरा ईमान बर्बाद ना हो जाए और हर उस शख्स की सोबत से बचें हर उस गैदरिंग से बचें जो दिल में वसवसे पैदा करें दिल में अल्लाह और उसके रसूल के बारे में अजीब व गरीब ख्याल पैदा हों रसूलुल्लाह की शान और अजमत में कमी दिल में वाक़ हो बल्कि ऐसे लोगों में बैठे कि बैठने से रसूलुल्लाह की शान और अजमत का जो तस्वुर है उसमें मजीद इजाफा हो बुखारी शरीफ में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिकाफ किया है हजरत सफ़िया उमुल मोमिनीन है मोमिनों की माँ है रसूलुल्लाह की जोजा मोहतरमा है वो हजूर को खाना पेश करने के लिए रात के वक्त आती हैं या किसी काम से आती हैं जब वो जाने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि रात का अंधेरा है तो आप इन्हें छोड़ने के लिए मस्जिद के दरवाजे तक आए हालांकि आप मोतकफ थे तो आप उनके साथ चल रहे थे कि मस्जिद के सहन के अंदर आप खड़े हो गए वो भी खड़ी हो गई और किसी मौजू पर कोई बात आप कर रहे थे मर्रा भी रजुलान तो दो सहाबी जो है वहां से करीब से गुजरे उन्होंने जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खातून से गुफ्तु कर रहे हैं नजर उठाई नजर झुकाई और जाने लगे अब दफर आला हरिस लिकुमा खड़े रहो अपनी जगह पर इन नमा ही सफिया ये कोई गैर औरत नहीं ये सफिया है मेरी जोजा है इन्हें आपने उन्हें तफसील बताई कि खाना देने के लिए आई थी मैं इन्हें छोड़ने के लिए आया तो रास्ते में हम खड़े हो गए बातें कर रहे हैं ये कोई गैर औरत नहीं है ये मेरी जोजा है जिसका नाम सफिया है और मेरा नाम ये है वो कहने लगे फ़काल सुबहान अल्लाह तोबा तोबा हम ऐसा तस्वुर ही नहीं कर सकते सुबहान अल्लाह बड़ी अजीब बात है कि हम ऐसा तस्वुर करें तोबा तोबा तो उन्होंने और सहाबी कभी रसुल्ला के बारे में कोई ख्याल सोच भी नहीं सकता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया आपने फरमाया इन्ना शैतान यजरी मिनिबिन आदम मजरदम शैतान आदम के बेटे यानी आदमी के बदन में खून की तरह दौड़ता है फकीफ तो मुझे डर लगा यकफी कुलूबी कुमा शैन के शैतान तुम्हारे दिल में कोई बात फेंक दे कोई ख्याल तुम्हारे दिल में आ जाए फतह लिखा और तुम दोनों बर्बाद हो जाओ तो मैंने तुम्हें बर्बादी से बचाया आपने देखा कि जरा सा ख्याल ऐसा वैसा आ जाए तो ईमान बर्बाद हो किसका ईमान बर्बाद हो जाए फताहली का साहबी को फरमा रहे हैं कि तुम दोनों के दिल में मुझे डर लगा मुझे तुम्हें तुम्हारे ईमान की फिक्र पैदा हुई कि शैतान ने अगर कोई ख्याल डाल लिया तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाएगा तुम बर्बाद हो जाओगे तो मैंने तुम्हें बर्बादी से बचाने के लिए वजाहत की अब आप सोचें कि जहां पर जबान पर तो पहरे हैं दिल पर भी पहरे हैं जिस बारगाह में दिल के तस्वुरात भी पाकिजा होने चाहिए तो उस मजलिस या उस दोस्तों की गैदरिंग में जाना कि जिनमें सिर्फ ख्यालात पैदा खुद बाखुद नहीं होते जबान से बकवास की जाती है तो ऐसी महफिलें और ऐसे दोस्त और ऐसी गैदरिंगे और ऐसा सारा निज़ाम यकीनन ये हमारी आखरत को बर्बाद करने वाला है अल्लाह रब्बुल हमें इन तमाम बातों से बचने की तोफ़ी अता फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम तोक़ीर अता फरमाए फिर उसी बात को अर्ज़ करता हूँ कि ईमान बर्बाद होता है इस वजह से कि इंसान एहतियात नहीं करता और जो मुंह में आता है बोल देता है अब दुनिया का कलाम जो भी करें लेकिन दीन की बात बोलने लगे तो सोच लें कि ये बात मैं जो बोल रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ईमान बर्बाद हो जाए और बसा अवकात बात सही होती है लेकिन फिर भी बेअदबी शुमार होती है और सही बात भी अगर बेअदबी के अंदाज में कही जाए तो वो गुस्ताखी है मसला एक आम सी मिसाल है आप कहें किसी से कि आपके वालिद गिरामी मेरे पास तशरीफ लाए थे बड़ी ही प्यारी शख्सियत हैं वो मुझे उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बताइए कितनी अच्छी बात है अब इस जुमले पर गौर कीजिएगा आपके वालिद गिरामी मेरे पास तशरीफ लाए थे अब इसी को यह कहा जाए कि तेरा बाप आया था बताइए मफहूम के लिहाज से तो दोनों एक ही चीज है आपके वालिद गिरामी मेरे पास तशरीफ लाए थे तेरा बाप मेरे पास आया था बताइए फर्क है कि नहीं अब वो गुस्ताखी और वो अदब है और फिर अगर वो यूं कह दे तेरी माँ का शोहर मेरे पास आया था तो जूता अगर होगा तो उतार कर मारेगा उसको तो सामने वाला जब पिटेगा तो वो कहेगा भाई मैंने कोई गलत बात कही है मैंने तो क्या कहा है आपकी अम्मी का शोहर तो आपके वालिद क्या आपकी अम्मी के शोहर नहीं है लेकिन ये जुमला हम बर्दाश्त नहीं करें क्यों इसलिए कि बोलने का एक अंदाज होता है कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसका अंदाज क्या होता है हम किसी बुजुर्ग के मुतालिक ये नहीं कहते मसलन अगर किसी से मोहब्बत हो तो कहा जाए जनाब वो क्या कर रहे हैं जी वो सोए पड़े हैं हम ये नहीं कहते हम कहते हैं आराम फरमा रहे हैं हजरत आराम फरमा रहे हैं सोए पड़े हैं और आराम फरमा रहे हैं इसमें बाहिर मफहूमन कोई फर्क नहीं है लेकिन बोलने का अंदाज बाज अवत बेअदबी की तरफ ले जाता है तो जो जिन लोगों ने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की उसमें बोलने का अंदाज भी गुस्ताखाना है और जो मफहम उन्होंने बयान किया वो भी गुस्ताखाना है मसला आपको एक दो मिसालें देकर हम अपनी गुफ्तु को ख़त्म करते हैं देखिए तकवीतुल ईमान सफ़ा नंबर उन्नीस ये अंग्रेज़ों के दौर में किताब लिखी गई और इसमाइल दहलवी ने लिखी इसके सफ़र नंबर उन्नीस पर यह है हमारा जब खालिक अल्लाह है और इसने हमको पैदा किया तो हमको भी चाहिए कि अपने हर काम अपने हर कामों पर उसी को पुकारें और किसी से हमको क्या काम जैसे जो कोई एक बादशाह का गुलाम हो चुका तो वो अपने हर काम का इलाका उसी से रखता है दूसरे बादशाह से भी नहीं रखता आगे समाप्त करें और किसी चोहरे चमार का तो क्या जिक्र यानी एक आदमी बादशाह का गुलाम है तो दूसरे बादशाह से गर्ज नहीं रखता तो ये कहना चाहता है जब अल्लाह के गुलाम हो तो अल्लाह से मांगो अंबिया से मत मांगो तो वो अंबिया को बादशाह नहीं कह रहा बल्कि क्या कह रहा है किसी चोहरे चमार का तो क्या जिक्र ये सरी कुफर है कि ये अंदाज जो है ये इसलाह का नहीं बल्कि तोहन व बेअदबी का फिर इसी शख्स इस्माइल देलवी ने किताब सिरात मुस्तकीम सफ़ा नंबर 95 पर लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आ जाए तो ये ख्याल बहुत ही बुरा है यहां तक कि लिखा कि अपनी जोजा से सोहबत का ख्याल बल्कि जिना के ख्याल से भी बुरा है नाऊजबिल्ला बताइए ऐसा सब मुसलमान हो सकता है असलम का नबी जब हम पढ़ेंगे सलाम हो आप पर ए नबी तो बताइए किसका तस्वुर आएगा रसूलुल्लाह का आएगा अल्लाह सल्ला सैदिना मौलाना मोहम्मद जब हम पढ़ेंगे तो किसका तस्वुर आए वो कहते हैं रसूलुल्लाह का तस्वुर नमाज में आए या लाया जाए तो ये जिना के ख्याल से बदतर है और यहां तक लिखा कि गधे और खच्चर के ख्याल से बदतर है नऊज बिल्लाजाल इसी तरह एक और इबारत तहजीर उन्नास की इबारत है तहजीर उन्नास कासिम नानोतवी ने लिखी है और ये दारुल देवबंद का बानी है अब देखिए हमने कलमा किसका पढ़ा है जोर से कहें अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ा है हमने किसी मौलवी का कलमा नहीं पढ़ा किसी शेख का कलमा नहीं पढ़ा किसी पीर का कलमा नहीं पढ़ा किसी मुफ्ती का कलमा नहीं पढ़ा जो रसूलुल्लाह का फर्मा बरदार है जो रसूलुल्लाह के दरबार का गुलाम है वो हमारा आका है और जो रसूलुल्लाह की शान में जरा भी बेअदबी करे हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं तो इसके अंदर इसने ये बात लिखी है उन्नास में कि वला के रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबीन जो कुरान की आयत है व ख़ातमन नबीन का तर्जमा लोग तो ये करते हैं आखिरी नबी लेकिन ये तर्जमा ये जोहला का तरीका है खातम नबीन का तर्जमा आखिरी नबी नहीं है बल्कि उसने कहा इसका नबी है इसका तर्जमा है कि हजूर बिजात नबी है हमारे एक जानने वाले हैं उनका मुनाजरा हुआ रबा के अंदर उस रबवा में इस वक्त जो सबसे बड़ा इनका यानी पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो कादियानी है उससे इनकी गुफ्तगु हुई तो उसने यही किताब उसके सामने रखी और कहा देखो हम भी यही कहते हैं कि ख़ातमन नबीन का तर्जमा आखिरी नबी नहीं है इसका तर्जमा है अफजल नबी बिजात नबी तो उस शख्स ने तो बड़ी आसानी से कह दिया भाई ये तो उस शख्स की इबारत तुम सामने रख रहे हो कि जिसे उलमाए हरमैन शरीफैन ने काफिर करार दिया हम तो इसे काफिर मानते हैं किसी और की बात करो तो चुप हो गया लेकिन आज भी कादियानी सबसे पहले यही इबारत पेश करते हैं क्योंकि ये इबारत ये कादियानियों के लिए चोर दरवाजा है इस इबारत ने उनको चोर दरवाजा दिया तो ये तहजीर उन्नास सफा नंबर दो पर लिखता है तहजीर उन्नास मेरे पास है और इसके अंदर यह अल्फाज आज भी लिखे हुए हैं अवाम के ख्याल में तो रसूल सलाम रसूलुल्लाह के आगे सलाम लगाना यह भी गुस्ताखी है ये शॉर्ट फॉर्म है और दुरुद पाक का शॉर्ट फॉर्म करना ये गुना है तो इसने यहां पर शॉर्ट फॉर्म किया है रसूलुल्लाह सलाम हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बई माना है यानी अवाम तो ये समझते हैं कि आपका ज़माना अम्बिया सबक के बाद और आप सब में आखिर नबी हैं हमने आज तक खातिम नबी इनका तर्जमा क्या समझा कि हुजूर आखिरी नबी हैं आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता और ये कहता है ये आवाम का ख्याल है और फिर बड़े हैरत अंगेज बात यह है कि चौदह सौ साल में खुद इस किताब में इसने लिखा है कि ये जो मैंने बात कही है सौ साल में किसी साहबी ताबईन किसी बुजुर्ग ने नहीं कही खुद कहता मेरे दिल पर वो बात आई है जो किसी के पास नहीं थी यानी चौदह सौ साल तक किसी को खातम नबीन का तर्जमा ही नहीं पता था सब करते रहे आखिरी नबी और यह कहता है इसका तर्जमा आखिरी नबी नहीं मगर अहल फहम पर रोशन होगा कि तकदम या ताखुर में बिजात कुछ फजीलत नहीं ये कहता है कि कोई पहले आ जाए कोई बाद में आ जाए इससे क्या होता है तो अगर ये महफिल लगी हुई है एक आदमी पहले आ गया एक लेट आ गया तो देर से आना ये कोई फजीलत की बात तो नहीं तो रसूल आखिरी नबी है तो इसमें फजीलत की कौन सी बात है है ये अंग्रेजों की एक साजिश थी कि ये एक दरवाजा खोलना था झूठे नबियों के लिए और यहां से दरवाजा खोला गया हालांकि खातिमन नबीन का तर्जमा खुद रसूलुल्लाह ने किया अना खातमनबीन ला नबी अबादी मैं खातमनबीन हूं यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं तो जब रसूल्ला ने खातमनबीन का तर्जमा यह किया ला नबी अबादी तो अब इस तर्जमे को अवाम का ख्याल कहना दर हकीकत क्या है दर हकीकत रसूलुल्लाह को भी अवाम में दाखिल करना फिर आगे लिखता है इसी किताब में बल्कि अगर बिल फर्ज हजूर के जमाने के बाद भी कोई नबी पैदा हो तब भी कुछ फर्क नहीं आएगा हजूर ही खातिमुन है क्यों क्योंकि खातिमुन का तर्जमा इसके नज़दीक आखिरी नबी है ही नहीं अफजल नबी है बिजात नबी है तो हजूर पहले आ जाए या बाद में आ जाए वो बिजात नबी है आज कादियानी यही दावा करते हैं कि हम हजूर को खातिम मानते हैं हम ख़त्म नबूत मानते हैं हमने कहा भाई ये कैसे तो कहने लगा ख़त्म नबूत का मतलब है अफजल नबी बिजात नबी तो मिर्जा कादियानी बाद में आ गया तो कोई बात नहीं हुजूर अफजल नबी हैं और खातमुलनबीन इनका मतलब आखिरी नबी नहीं है और ये इजमाय उम्मत है कि जो खातमुलनबीन इनका दूसरा कोई तर्जमा करे वो काफिर है ये तो ऐसी ही मिसाल है अकीम सलाह का कोई तर्जमा करे कि नमाज नहीं है बल्कि सलाह का मतलब है दुआ मांगना वहां तो जका का मतलब जक़ात नहीं है बल्कि इसका मतलब है जरा जिसम को पाक साफ रखा करो तो ये कुफर है इसे तहरीफ बिल माना कहते हैं कि कुरान के अल्फाज तो नहीं बदले जा सकते इसके माना बदले गए तो इजमाय उम्मत चौदह सौ साल तक यही रहा कि खातम नबी इनके माना क्या है आखिरी नबी लेकिन वो कहता है कि आखिरी नबी ये तस्वुर और ये तर्जमा तो आवाम का ख्याल है इसके माना है बिजात नबी और बाकी सारे नबी बिलार्ज नबी हैं ये शैतान के वार थे अब मसला ये था कि हमने ऐसे लोगों से गुफ्तु की इब्तदा में तो उन्होंने यही कहा कि खातम नबीन का मतलब है आखिरी नबी और जो इसका कोई और तर्जमा करे वह काफिर है हमने उठाकर इनके सामने किताब रख दी तो जब उन्होंने किताब पर नाम पढ़ा और देखा कि ये तो इनके बहुत बड़े मौलवी हैं तो कहने लगे ये बहुत बड़े मौलवी हैं बहुत बड़े हमारे आलिम हैं इसलिए इसका कुछ और मतलब होगा अब ये तो कोई बात ही ना हुई कि इंसान जो है यूं तो कहता रहे कि जो खातिम नबीन का दूसरा तर्जमा करे वो काफिर है लेकिन जब अपने मौलवी या अपने पीर की बात आए तो बंदा डामोडोल हो तो हमने मौलवी का कलमा नहीं पढ़ा कलमा किसका पढ़ा रसूल सल्ला वसलम का तो इस तरह की बहुत सारी इबारतें हैं आप ये किताब बाहर शरीयत हिस्सा अव्वल इसे ले लीजिए बाहर शरीयत हिस्सा अव्वल इसके आखिर में कई अंग्रेजों के दौर में जो मौलवी पैदा हुए उन्होंने जो कुफरियात लिखे उनकी किताबों के नाम भी हैं सफा नंबर भी है और उस पर उन किताबों का अक्स भी मौजूद है फोटो कापी भी मौजूद है कि देखें किस किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी और गुस्ताखी की गई अल्लाह तबारक व हमें ईमान का तहफ़ नसीब फरमाए और हर किस्म की बदअकीदगी से महफूज फरमाए और ख़ास तौर पर ईमान की फ़िक्र अता फरमाए और जो आज का मौजू था उसको हम फिर रिपीट करते हैं कि कि दुनिया पर तबसरा करना हो तो करते रहें लेकिन जब दीन की बात आए ख़ास तौर पर अल्लाह और उसके रसूल की बात आए तो अपनी ज़बान को रोक लें और सोच लें सौ मरतबा सोच लें हज़ार मरतबा सोच लें कि ये जो जुमला मैं कह रहा हूँ ये जो तबसरा कर रहा हूँ ये कहीं तबसरा गलत ना हो और मेरा ईमान बर्बाद ना हो जाए और ऐसे लोगों की गैदरिंग से बचें कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के बजाय आपके अयूब ढूंढते हैं आपकी खामियां ढूंढते हैं वो ज़ात जो ऐब से पाक है वो ज़ात जो खामियों से पाक है रब्बुल आलमीन ने ऐसी ज़ात पैदा फरमाई कि सारी मखलूक में आप तमाम अयूब से पाक हैं और सारी मखलूक से ज़्यादा अल्लाह ताला ने आपको इल्म अता फरमाया मकाम और मरतबा अता फरमाया रब्बुल आलमीन हमें ईमान की सलामती नसीब फरमाए आइए इस दुआ को हम तीन मरतबा दोहरा लेते हैं या मुकलबल कलूब सबित कलबी अला दीनिक या मुकलबल कलूब सबित कलबी अला दीनिक या मुकलबल कलूब सबित कलबी अला दीनिक ए मालिक मौला तू हमें दीन पर इस्तकामत अता फरमा ए करीम परवरदिगार हमें ख्याल की पाकिजगी नसीब फरमा हमारे दिलो दिमाग में तेरी और तेरे हबीब की अजमत अता फरमा अजमत का तस्वुर अता फरमा बुरे ख्याल से बुरी सोच से हमें महफूज फरमा जबान की हिफाजत की तोफीक अता फरमा ए अल्लाह ऐसे लोगों की गैदरिंग सोहबत और इनकी मजालिस से महफूज फरमा कि जिसमें बैठने से तेरी मोहब्बत में कमी आए इश्क रसूल में कमी आए ए अल्लाह हमें ऐसे दोस्त अता फरमा जिन्हें देख कर तू याद आ जाए जिनकी गुफ्तगु सुनकर इश्क रसूल में इजाफा हो जाए जिनकी गुफ्तगु सुनकर रसूलुल्लाह की शान और आजमत का तस्वुर और बढ़ जाए ए मालिक ए परवरदिगार तू हमारी मदद फरमा हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत फरमा ए मालिक ए परवरदिगार अगर बेख्याली में या जान बूझ कर हमारी जबान से कोई कलिमा ऐसा निकल गया हो तो हम आज सच्ची पक्की तोबा करते हैं कहिए ए अल्लाह मैं हर कुफर से बेजार हूं अगर मुझसे कोई कुफर हो गया हो तो मैं उससे तोबा करता हूं ईमान लाता हूं मुसलमान होता हूं لا إله إلا الله محمد रसूल ए करीम परवरदिगार मरते दम तक हमें ईमान की सलामती नसीब फरमा कब्र आखरत की तमाम मनाजिल आसान फरमा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में हमें पड़ोस अता फरमा ए अल्लाह हजरत साद बिन मुआज के इश्क रसूल का सदका कि जिनके लिए रसूलुल्लाह ने दुआएं की कि अल्लाह मैं इनसे राजी हूं तू भी राजी हो जा ए अल्लाह हजरत साद बिन मुआज के इश्क रसूल का सदका हमें भी इश्क रसूल अता फरमा ताजीम मुस्तफ़ा अता फरमा हमारे आका को हमसे राजी फरमा दे ए अल्लाह हमें तेरी और तेरे हबीब की रजामंदी वाले काम करने की तोफीक अता फरमा ए अल्लाह हजरत साद बिन मुआज का सदका कि जिनकी रूह को लेने के लिए सत्तर हजार फरिश्ते उतरे जिनकी रूह के इस्तकबाल में अर्श झूम उठा जिनके लिए कब्र तहद निगाह वसी कर दी गई जिन्हें रसूलुल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक से कब्र में रखा ए अल्लाह हमें भी ईमान और आफियत पर शानदार शहादत अता फरमा ए अल्लाह ईमान और आफियत पर हमें शानदार शहादत रश्क भरी शहादत नसीब फरमा अल्लाह जुकना शहादतन फी सबीलिक اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك वजाल मऊतना फी बलद हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अल्लाह तेरे बंदे तेरी बंदियां जितने हाजिर हुए सबकी तमाम जायज मुरादों को पूरा फरमा हर मुश्किल को आसान फरमा हर मुसीबत को दूर फरमा हर बला को दूर फरमा दोनों जहां की खैर आफियत और सलामती नसीब फरमा अल्लाह जो जायज तमन्नाएं दुआएं और आर्जुएं की हैं आइंदा करेंगे जो बेहतर हो सब कबूल मंजूर फरमा हमें दोनों जहां का सुकून अता फरमा जो दुआएं की हैं जो आइंदा करेंगे तमाम मुसलमानों के हक में कबूल फरमा मालिक मौला इस नशिश की दावत हमें खूब आम करने की तोफ़ी अता फरमा जो बातें हम सुने उसे सुनकर याद रखने लिखने की तोफ़ी अता फरमा النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين